यकीनन तुम्हारा परवरदिगार वो अल्लाह है जिसने सारे आसमान और ज़मीन छह दिन में बनाए फिर उसने अर्श पर इस्तेवा फरमाया वो दिन को रात की चादर ओढ़ा देता है जो तेज रफ्तारी से चलती हुई उसको आ दबोचती है और उसने सूरज और चांद तारे पैदा किए हैं जो सब उसके हुक्म के आगे राम हैं याद रखो कि पैदा करना और हुक्म देना سب اسی کا کام ہے بڑی برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے